हमने उन पर बस एक ही चिंगाड़ भेजी जिससे वो ऐसे होकर रह गए जैसे कांटों की रौंदी हुई बाढ़ होती है